शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और उन बागों के अलावा दो बाग और हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे दोनों खूब गहरे सब्ज तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उनमें दो चश्मे उबल रहे हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे सब्स कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा परवरदिगार जो साहेब जलाल करम है उसका नाम बड़ा बाबरकत है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है जब वाक़ होने वाली वाक़ हो जाएगी उसके वाक़ होने में कुछ झूठ नहीं किसी को पस्त करने किसी को बुलंद करने वाली जब जमीन भोचाल से लरजने लगे और पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाएं, फिर गुबार होकर उड़ने लगेंगे और तुम लोग तीन किस्म के हो जाओगे तो दाहने हाथ वाले क्या कहने दाहने हाथ वालों के और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना वो आगे ही बढ़ने वाले हैं वही अल्लाह के मुकर्रब हैं नेमत की बहिश्तों में वो बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद वालों में से लालो याकूत वगैरह से जड़ाव तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे उनके आसपास फिरेंगे यानी आप खोरे और आफ्ताबे और साफ शराब के जाम ले लेकर उससे न तो सर में दर्द होगा और न उनकी अकलें जायल होंगी और मेवे जिस तरह के उनको पसंद हों और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जैसे हिफाजत से रखे हुए आपदार मोती ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे वहां न वो बेहूदा बात सुनेंगे और न गाली गलोच हां उनका कलाम सलाम सलाम होगा और दाहने हाथ वाले क्या कहने हैं दाहने हाथ वालों के वो बेकांटों की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते पानी के चश्मों और बहुत से मेवों के बागों में होंगे जो ना कभी खत्म हो और न उन पर कोई रोक टोक होगी और ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे हमने ही इन हूरों को पैदा किया तो इनको कुआरी बनाया और शोहरों की प्यारी और हम उम्र यानी दाहने हाथ वालों के लिए ये बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में होंगे यानी दोजख की लपट और खोलते हुए पानी में और सिया धुएं के साय में जो ना ठंडा होगा और ना खुशनुमा ये लोग इससे पहले ऐश में पड़े हुए थे और बड़े गुनाह यानी कुफर पर अड़े हुए थे और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए तो क्या हमें फिर उठना होगा और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोजे मुकर्र के वक्त पर जमा किए जाएंगे फिर तुम्हें झुटलाने वाले गुमराह हो थूहर के दरख्त से खाओगे फिर उसी से पेट भरोगे फिर उस पर खोलता हुआ पानी पियोगे फिर पियोगे भी इस तरह जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं इंसाफ के दिन ये उनकी जियाफत होगी हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते देखो तो कि जिस नुतफे को तुम डालते हो क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्र कर दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आए और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है फिर तुम सोचते क्यों नहीं भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए बल्कि हम बेनसीब रह गए भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपने परवरदिगार आजीम के नाम की तस्बीह करो सो हमें तारों की मंजिलों की कसम और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है क्या तुम इस कलाम के मानने में देर करते हो और अपना वजीफा यह बनाते हो कि इसे झुटलाते रहते हो फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रबों में से हुआ तो उसके लिए आराम और रोजी और नेमत के बाग होंगे और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो कहा जाएगा कि तुझ पर दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हुआ तो उसके लिए खोलते पानी की जियाफत होगी और जहन्नम में दाखिल किया जाना ये बात वाकई यकीनी है तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करते रहो शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है जो मखलूक आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है हिकमत वाला है आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है वही अव्वल और वही आखिर और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है और वो हर चीज का खूब जानने वाला है वही है जिसने आसमानों और जमीन को छह दिन में पैदा किया फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है सब उसको मालूम है और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है लोगों अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नायब बनाया है उसमें से खर्च करो अब जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हालांकि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ और अगर तुमको यकीन हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है वही तो है जो अपने बंदे पर वाज आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाए बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफकत करने वाला है मेहरबान है और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह के रस्ते में खर्च नहीं करते हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है जिस शख्स ने तुम में से फतेह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की वो और जिसने ये काम बाद में किए वो बराबर नहीं उनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में माल खर्च किए और कुफ्फार से जंग की और अल्लाह ने सबसे ही सवाब नेक का वादा किया है और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे वाकिफ है कौन है जो अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अदा करेगा और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहनी तरफ चल रहा है तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं इनमें तुम हमेशा रहोगे यही बड़ी कामयाबी है उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारे लिए इंतजार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ बस वहां नूर तलाश करो फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा जो उसकी जानब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है और जो बैरूनी जानब है उस तरफ अजाब है तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे वो कहेंगे क्यों नहीं थे लेकिन तुमने खुद अपने आप को बला में डाला और हमारे लिए गर्दिश जमाना के मुंतजर रहे और इस्लाम में शक किया और फजूल आरजू ने तुमको धोखे में डाले रखा यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और अल्लाह के बारे में तुमको वो शैतान बड़ा फरेबी फरेब देता रहा तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न काफिरों ही से कबूल किया जाएगा तुम सबका ठिकाना दोजक है कि वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थी फिर उन पर तवील अरसा गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान है जान रखो कि अल्लाह ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो जो लोग खैरात करने वाले हैं मर्द भी और औरतें भी और अल्लाह को नेक नियति से कर्ज देते हैं उनको कई गुना अदा किया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सिला है और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए यही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं इनके लिए इनके अमाल का सिला होगा और इनके ईमान की रोशनी भी होगी जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दो हैं जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत आरइश और तुम्हारे आपस में फख्र सताइश और माल औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब व ख्वाहिश है इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश के उससे उगने वाली खेती किसानों को भरी लगती है फिर वो खेती खूब जोर पर आती है फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है फिर चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश और खुशनुदी है और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है बंदो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें एक किताब में लिखी हुई होती है और ये काम अल्लाह को आसान है ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता जो खुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं और जो शख्स रू गर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है लायक हमदो सना है हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और मीजान आदल ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें और लोहा पैदा किया कि उसमें असलह जंग के लिहाज से जोर भी बहुत है और लोगों के लिए फायदे भी हैं और इसलिए कि जो लोग बिन देखे अल्लाह और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं अल्लाह उनको मालूम करे बेशक अल्लाह जोर आवर है गालिब है और हमने नू और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा सो बाज तो उनमें से हिदायत पर हैं और अक्सर उनमें से नाफरमान हैं फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील इनायत की और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी और तर्क दुनिया वाली नई बात तो खुद उन्होंने निकाल ली हमने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था मगर उन्होंने अपने ख्याल में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था फिर जैसा उसको निभाना चाहिए था निभा भी ना सके बस जो लोग उनमें से ईमान लाए उनको हमने उनका अज्र दिया और उनमें बहुत से नाफरमान हैं मोमिनो अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे और तुमको बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है वो जिसको चाहता है देता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औरत तुमसे अपने शोहर के बारे में बहस जिदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगु सुन रहा था कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है देखता है जो लोग तुम में से अपनी औरतों को मां कह देते हैं वो उनकी माए नहीं हो जाती उनकी माए तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहती हैं और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है बख्शने वाला है और जो लोग अपनी बीवियों को मां कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है मोमिनो इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है अब जिसको गुलाम न मिले वो कुर्बत से पहले लगातार दो महीने के रोजे रखे फिर जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे साठ मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए यह हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार हो जाओ और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे और हमने साफ साफ आयतें नाजिल कर दी हैं और जो नहीं मानते उनको जिल्लत का अजाब होगा जिस दिन अल्लाह उन सबको जिला उठाएगा तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा अल्लाह ने वो सब काम लिखवा रखे हैं और ये उनको भूल गए हैं और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है अल्लाह को सब मालूम है किसी जगह तीन शख्सों की सरगोशी होती है तो अल्लाह उनमें चौथा होता है और जहां पांच आदमियों की सरगोशी हो तो वो उनमें छठा होता है और न इससे कम या ज्यादा मगर वो उनके साथ होता है खा वो कहीं हो फिर जो जो काम ये करते रहे हैं कयामत के दिन अल्लाह सब उनको बताएगा बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे और ये तो गुनाह और जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह तला के बताए हुए अल्फाज के बजाय दूसरे अल्फाज में तुम्हें दुआ देते हैं और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सजा क्यों नहीं देता ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दोजख ही की सजा काफी है ये उसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है मोमिनो जब तुम आपस में सरगोशियां करने लगो तो गुनाह और ज्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें ना करना बल्कि नेकूकारी और परहेजगारी की बातें करना और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना मुनाफिकों की सरगोशियां तो शैतान के उकसाने से हैं जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे रंजीदा हो मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा उनसे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें मोमिनो जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है मोमिनो जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात कर दिया करो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकिजगी की बात है और अगर खैरात तुमको मुयसर ना आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है क्या तुम इससे के पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात करो डर गए फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो और जक़ात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करते रहो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ वो न तुम में है न उनमें और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोक दिया है सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है अल्लाह के अजाब के सामने न तो इनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी ये लोग अहले दोजक हैं इसमें हमेशा जलते रहेंगे जिस दिन अल्लाह इन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा सुनो यही तो है झूठे शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है ये लोग शैतान का टोला है और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे अल्लाह ने यह बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे बेशक अल्लाह जोर आवर है साहिब इकतदार है जो लोग अल्लाह पर और रोज क्यामत पर ईमान रखते हैं तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लाम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज से उनकी मदद की है और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा जिनमें वो हमेशा रहेंगे अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं सुन रखो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होंगे शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है जो चीजें आसमानों में हैं और जो चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वो गालिब है हिकमत वाला है वही तो है जिसने कुफ्फार अहले किताब को पहली लश्कर कशी पर ही उनके घरों से निकाल दिया मुसलमानों तुम्हारे ख्याल में भी न था कि वो निकल जाएंगे और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके कले उनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे मगर अल्लाह ने उनको वहां से आ लिया जहां से उनको गुमान भी न था और उसने उनके दिलों में दहशत डाल दी कि अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे तो ऐ बसीरत की आंखें रखने वालों इबरत हासिल करो और अगर अल्लाह ने इनके बारे में जलावतन करना न लिख रखा होता तो इनको दुनिया में भी अजाब दे देता और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब तैयार है ही ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करे तो अल्लाह उसे सख्त अजाब देने वाला है मोमिनो खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया सो ये अल्लाह के हुक्म से था और इससे मकसूद ये था कि वो नाफरमानों को रसवा करे और अ मुसलमानों जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को उन लोगों से जंग के बगैर दिलवाया है उसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं क्योंकि उसके लिए न तुमने घोड़े दौड़ाए न ऊंट लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है गालिब कर देता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्तियों वालों से दिलवाया है वो अल्लाह के और पैगंबर के और पैगंबर के कराबत वालों के और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफिरों के लिए है ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में न गर्दिश करता रहे और जो चीज तुमको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज रहो और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है और उन जरूरतमंद महाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार और अल्लाह और उसके पैगंबर के मददगार हैं यही लोग सच्चे हैं और उन लोगों के लिए भी जो महाजरीन से पहले इस घर यानी मदीने में मुकीम हैं और ईमान में मजबूत हैं और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते और उनको अपनी जानों पर मुकदम रखते हैं खा वो खुद भी फाके से हों और जो शख्स खुद गरजी से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं और उनके लिए भी जो उन महाजरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि अः परवरदिगार हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह मुआफ फरमा और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना व हसद न पैदा होने दे ऐ हमारे परवरदिगार तू बड़ा शफकत करने वाला है मेहरबान है क्या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जलावतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहा न मानेंगे और अगर तुमसे जंग हुई तो तुम्हारी ही मदद करेंगे मगर अल्लाह जाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे और अगर उनसे जंग हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे और अगर मदद करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे फिर इनको कहीं से भी मदद न मिलेगी मुसलमानों तुम्हारी हैबत इन लोगों के दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट से इनके आपस में भी बड़ी लड़ाई रहती है तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं ये इसलिए कि ये बेअकल लोग हैं इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सजा का मजा चख चुके हैं और उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है मुनाफिकों की मिसाल शैतान किसी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है तो दोनों का अंजाम यह हुआ कि दोनों दो में जाएंगे हमेशा उसमें रहेंगे और इंसाफों की यही सजा है ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए यही लोग हैं नाफरमान अहले दोजख और अहले बहिश्त बराबर नहीं अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं पोशीदा और जाहिर का जानने वाला वो बड़ा मेहरबान है निहायत रहम वाला है वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं बादशाह हकीकी हर ऐप से पाक सलामती देने वाला अमन देने वाला निगहबान गालिब जबरदस्त बड़ाई वाला अल्लाह मुशरकों के शिरक से पाक है वही अल्लाह तमाम मखलूक का खालिक ईजाद इख्तरा करने वाला सूरतें बनाने वाला उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं जितनी चीजें आसमानों और जमीन में हैं सब उसकी तस्बीह करती रहती हैं और वो गालिब है हिकमत वाला है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है मोमिनो अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनूदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं और इस वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जलावतन करते हैं तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रस्ते से भटक गया अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबाने भी और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ कयामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद उस रोज वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है मुसलमानों तुम्हें इब्राहिम और उनके रुफका की नेक सीरत को अपनाना जरूरी है जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो बेताल्लुक हैं हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी हां इब्राहिम ने अपने बाप से यह जरूर कहा था कि मैं आपके लिए मकफिरत मांगूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता ए हमारे परवरदिगार तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं और तेरे ही हुजूर में हमें लौट कर आना है ए हमारे परवरदिगार हमको काफिरों के जरिए फितने में न डालना और ए हमारे परवरदिगार हमें मुआफ फरमा बेशक तू गालिब है हिकमत वाला है तुम मुसलमानों को यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोज आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो उसे उन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए और जो गर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है लायक हमदोसना सना है अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम हैं मोमिनो जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आए तो उनकी आजमाइश कर लो और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन है तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि न ये उनको हलाल है और न वो इनको हलाल है और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो और तुम पर कुछ गुना नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो और काफिर औरतों के साथ ताल्लुकात निकाह बाकी न रखो यानी उन्हें कुफार को वापस दे दो और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है और अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला है और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उनको इस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरते रहो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बयात करने को आए कि न तो अल्लाह के साथ शिर करेंगी न चोरी करेंगी न बदकारी करेंगी न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी न अपने हाथ पांव के दरमियान कोई बोहतान बांध लाएंगी और न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी तो उनसे बैत ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है मोमिनो उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं